और श्रोता दोनों का चित्त शांत चाहिए शांत चित्त से वक्ता बोले तो ठीक ठीक बोल सके और शांत चित्त से श्रोता सुने तो ठीक ठीक समझ सके संस्कृत श्रवण का अर्थ समझना होता है उन्हीं में श्रवण का अर्थ होता है कान को तो सुन और संस्कृत भाषा में श्रवण पर विचार होता है समझ लेना उसके अर्थ का निश्चय कर लेना काम से सुनने का नाम सुनना नहीं है कर्तव्य का निश्चय करने का नाम सुनना है भाषा का भेद है हिंदी गुजराती मराठी में सरल शब्द का प्रयास होता है मालूम है और संस्कृत भाषा में श्रवण शब्द का अर्थ समझना दिया बुद्धि तो हम लोग को भी अध्ययन कर रहे हैं ये सहना और श्रोता वक्ता दोनों की रक्षा कर रहे हैं स्थाने जो जो नाम है उनको दूर है और उसका सहयोग मजबूत हमको तो खुश की देर पालन करें इसको धारण करने के लिए जो योग्यता है सो गए कोई कारण है जो हमारे पास विघ्न आते हैं उनका निवारण करें और भक्ति का अर्थ है कि हमारे अंदर जो साधन की कमी है उसको देखकर जीवन कर और हम दोनों कहा निर्जन करवावही का अर्थ हम दोनों अपनी पूरी शक्ति लगाने हैं इस विद्यालय में जो वस्तु है उसका साक्षात हो जाए और नई अधिकतम तेजस्वी अस्त नई आवय हो हम लोग जो पढ़ते घूमते सुनते हैं वो तेजस्वी तो है विकास डायरेक्ट न हो जाए हमारे भीतर जो अभियान है जो पुरुष है उसके निवारण में समर्थ हो गए तेजस्वी माँ विद्य साधन हम लोगों में आपस में सभी द्वेश एक दूसरे का बुरा होता है

ऋग्वेद वो यजुर्वेद का उपनिषद यज्ञ संबंधी बातों का वर्णन यजुर्वेद में आता है यज्ञ में जिन जिन मंत्रों का प्रयोग होता है उन मंत्रों का वर्णन है यजुर्वेद परंतु क्या यजुर्वेद सर्वकांड पर्यंत भी है लोगों ने तो उसमें तत्व ज्ञान भी भरा हुआ है तो उस तत्व ज्ञान में यजुर्वेद का तात्पर्य कैसे है और वेदों का तात्पर्य कैसे है इसके लिए यजुर्वेद को उपनिषद होता है उनमें ईसादास के उपनिषद को मूल मंत्रों से ही बना हुआ है मैंने यजुर्वेद का चालीसवा अध्याय ही है और ये उपनिषद है तैतरी शाखा का उसका तो भी एक अभिप्राय है तत्व ज्ञान इतनी पवित्र वस्तु है उसकी बराबरी की कोई पवित्र वस्तु है तुम्हारे लाभ के मुताबिक पूरे में भी मुताबिक राजद देश के मुताबिक नरक वर्ग के मुताबिक जन्म मृत्यु को मिला देंगे बंधन को मिला देंगे नहीं ज्ञाने व सदृशम सभी ब्रह्म आप गीता में पढ़ते हैं इस सृष्टि में ज्ञान जैसा पवित्र और सृष्टि नहीं ज्ञान सदृशम पवित्र ब्रह्म ज्ञान के समान पवित्र और सृष्टि ज्ञानेन तदज्ञानम येषाम नाशुपदात्मन तेषाम आदित्य ज्ञानम प्रकाशन तत्परा ज्ञान ही अज्ञान का नाश करता है और ज्ञान ही परमात्मा का दर्शन कराता है तो इस ज्ञान प्रभाव उपनिषद ज्ञान उपनिषद की पवित्रता आश्रय है गुरु जी के महाराज होने पर भी ये ज्ञान नष्ट नहीं होता परित्याग करने पर भी इसका परित्याग नहीं होता आपको पता चला और निकृष्ट गुरु के मुख से सुनने पर भी ये अपना काम करता है ये तीन बात जैसे उसकी पवित्रता से रहते गुरु जी अपने विद्यार्थियों से भेद बना रहे उनकी संबंधी हो गई जो सत्पुरुष लोग होते हैं वो अपनी छोटी गलती को बड़ी सत्य मानते हैं और जो मूर्ख पुरुष होते हैं वो अपनी बड़ी गलती को भी पहले तो छिपलाते हैं और बड़ी छिपलाई न जा सके तो उसको छोटी मोटी बना देते हैं हमको तो कोई भी करना तो जरूरी जो है जो चलती है अंगार में गलती है तो इस बात के सामने अपनी गलती करूंगी जैसे कचरे की हत्या है मर गया दादू को नहीं किया था उन्होंने अंजाम में मर गया तो उन्होंने कहा कि हम इसका प्रायश्चित करेंगे अपने से कोई गलती हो जाए तो उसका प्रायश्चित भी करना चाहिए प्राय साधन समदृष्टम चित्तम सत्य विशेषण प्राय हमारे साथ जो सत्य होता है प्राय सत्य होता है जब विष्णु शरीरधारी होते हैं तो उनसे भी होता है ब्रह्मा शरीरधारी होते हैं तो उनसे भी शिव शरीरधारी होते हैं तो उनसे भी होता है इसलिए तो नाराज होने की काम प्राप्त नहीं है जो शरीर भारी होता है उससे कुछ न कुछ गलती है परंतु उसमें जो श्रेष्ठ होता है वो अपनी गलती को समझ करके उसका प्रायश्चित करता है और मुख्य देवी का पुरुष अपने साथ को स्वीकार भी नहीं करता है यहाँ तक साफ बताया है बाप के स्वरूप की सूक्ष्मता आपको बताया है कि आप हृदय को जानते हैं कि मैं शादी नहीं हूँ मेरे साथ नहीं हुआ है परंतु गणित दूसरों की दृष्टि में जो सात कार्य करता है तो उस सात का भी प्रायश्चित करना चाहिए इसको अभिशक्त बोलते हैं समाज जब कहने लगा कि वो काफी है तो भले मनुष्य काफी है और काफी काम से खराब नहीं होना चाहिए तुम्हें काफी नहीं अरे इस गंध का नहीं होगा पुराने गंध का होगा सभी में सभी होगा होगा और ऐसा प्रायश्चित करेंगे तो तो सब सुख हमारे सुख सुख मिल जाए सुख मिल जाए सब मिल करके प्राय सुख कर लेंगे तो तुमको शिष्यों में तो जाने उन्होंने कहा महाराज बदल करके चुप या कहीं से आपके चेहरे क्या करेंगे मैं भी प्रायश्चित कर लेता हूँ अब देखो तो ये ने कहा कि तुम मेरे छोटे छोटे शिक्षण का तिरस्कार करते हो हाँ? तो जैसे तुम मेरे शिष्य हो जैसे जो भी मेरे शिष्य है तुम अभिमान नहीं करते हो कि मैं बड़ा हूँ तो हमने जो विद्या पढ़ाई है वो छोड़ देते तो जादूगर ने कहा अच्छा महाराज छोड़ देते हैं समझो कि विद्या ऐसी चीज होती है जो पहले से सीखती नहीं है विद्या मानो लोग याद रखना नहीं ग्रंथ का ग्रंथ सोफा का सोफा याद रखना नहीं विद्या मानो जिससे सत्य का साक्षात्कार होता है जया सदक्षरम अभिगम है जिससे अक्षर का अभिगम प्राप्त होता है वो बड़ा विद्या होती है ऐसे कुछ तो उसका महाराज राशि किया तो तो तो है बनाई रूप में उन्होंने तो सूर्य से सूर्य से नई विद्या प्राप्त की ये पता अब गरीब लोगों की छोड़ी हुई विद्या थी इसको तीतर पक्षियों में जन्म दिया जैसे गुरु के नाराज होने से भी विद्या नहीं बिगड़ेगी और जाग्य बल को छोड़ देने पर भी विद्या नहीं बिगड़ेगी उसको ग्रहण किया अंतर पक्षियों के गुरु कहेंगे आपकी बड़ा तीतर पक्षी विद्या कैसे ग्रहण करेगा तो सुखदेव जी ने भागवत का उपदेश किया ये तो आप मानते हैं सात मुकुंडी ने रामायण का उपदेश किया ये मानते हैं रामायण तो सातों परिषद है भागवत सुखो परिषद है गर्भो परिषद है हंसो परिषद है उनका भी विवेक अर्थ होता है तो शुभ माने होता है दोरा दोबर वो स्वयं नहीं समझता तो ही जैसा सुनता है वैसा याद कर लेता है और वो देता रतन जो उसकी देवी होती है ऐसे सुखदेव जी महाराज जो भागवत सुना रहे हैं उनको चाहे कोई न समझे और रख ले सबकी इच्छा कर लेता है कौआ जो है काश जो है वो स्पष्ट पक्षी होता है पक्षी चांदाल चांदाल पक्षी है परंतु जो भी उसके रूप को भी जब काम करे कर निकलता है तो वो परम पावन हो जाता है तो यहाँ बच्चा की विशेषता नहीं होती विशेषता होती है बच्चे के विज्ञान की कौन बोलता है जो मत देखिए बच्चा बोलता है कि जवान बोलता है कि बुद्धा बोलता है कि सोकर बोलता है कि गए पर बोलता है कि दुश्मनी को बोलता है कि दोस्ती को बोलता है बोलने वाला कौन है इस पर बिल्कुल कर जाइए बोलने वाली चिड़िया लेकिन किसके बारे में बोल रही है बारे में बोल रही जिस वस्तु का वर्णन किया जा रहा है जब वो सत्य है वो परमात्म है तो सत्ता चाहे कोई भी हो एक बच्चे ने आगे जहाँ से आपके खाने को प्यार करा है उसे आप नहीं मानेंगे अच्छा चतुर चतुर पक्षु है उसने आपके भोजन को देखा उसकी आँख लाल हो गई चटकाने लगा तो चिड़िया बता रही है कि आपके भोजन में जहर है तो आप किन्नी का इशारा नहीं मानेंगे मानना पड़ेगा हमको दो एक प्रजन ने बताया तो उन्होंने होता विस्तार किया और उसका जो चिंता था वो मोटर के सामने आके खड़ा हो गया और खेलते और रोके एक बार दो बार तीन बार जब जब विस्तार करें आप उनका चिंता रोके तो उठला के वो मोटर से उतर गए और दस पंद्रह बीस मिनट बाद फिर मोटर लेके निकले निकले तो रास्ते में आगे जाकर देखा कि सड़क का जो पुल है जो धूप के गिर पड़ा है और हिसाब लगाकर उन्होंने देखा कि जरूर वो पंद्रह बीस मिनट पहले मोटर चला के आते थे तो वो पुल कर होते और वो पुल कर जाता तो कुत्ता भी सूचना दे रहा था ऐसे तो पक्षी भी जो तरह से समझते हैं तो यदि संकार एक चतु भी बतावे एक पक्षी भी बतावे तो उसको स्वीकार करना चाहिए मतलब पुतु ने ऐसा बताया सर्व प्रधान शुभाम विद्याम आदहिंसा राजी विद्या अच्छी है तो श्रद्धा के साथ अपने छोटे को भी उसको पसंद कीजिए अंत्यादि कर्म धर्मम श्री दर्शन मुक्ति राजी यदि अंत्य बुद्धि आपको संजाल भी कर्म धर्म का उपदेश करता हो कि तुम ब्रह्म हो तो आप उसको ग्रहण कीजिए अरे संजाल को मिला कहाँ से तो संभव है पूर्व जन्म का कोई महात्मा हो कर्मदंड की निवृत्ति के लिए वो आगरा हो संजाल लोगों में जब उस सत्य का वर्णन करता है तो आप सत्य का आदर कीजिए ये गुरु संत जितने वर्णन है वो सत्ता का आदर करके चलते हैं तुम्हारे तो गुरु बड़े महान है और जो ज्ञान का मार्ग है जो सत्य का आदर करके चलता है गुरु जी तुम्हारे भी समान है परंतु जब जो असत्य का उपयोग कर रहे हैं तो ज्ञान को उसको स्वीकार नहीं करेगा वो सत्य के उपदेश को ही स्वीकार करेगा गुरु की महिमा होती है संतों में और सत्य की महिमा होती है वेदांत में वेदांत में प्रमाण की महिमा है वेदांत में सत्य का महत्व है इसी से हमारे संसदीय उपनिषद का गुरु होता है ज्ञान रचनात्म तो सुजन का पान से है आप दुनिया में भूल लीजिए सारे संत सारे संत हो लीजिए क्या बहुत क्या गरीब ये वचन ये सुभाषित आपके जीतन तो के लिए मिलना कठिन है ज्ञान वर्तमान सुधारे काम करोगे मोड़ कराने जो हमारे जीवन में अच्छी बातें हैं सुचरित है हमारा उनसे आप ग्रहण कीजिए और जो हमारे जीवन में दुष्चरित है उससे ग्रहण अनुदान कीजिए ये मन कहेंगे गुरु जी दुष्चरित करते हैं तो हम भी करेंगे ये सही सभी संसार उपदेश है ज्ञान सारी तो आप गुरु जी को बस देंगे ये है गल्लो परिषद जो है हल्को परिषद जो है तो हल्को परिषद जो है वो जोड़ने के लिए है और सुखो परिषद जो है वो भी ज्ञान नहीं मिलेगा गल्लो परिषद जो लौकिक अभ्युदय के लिए पहले का अभिप्राय ये है कि शरीर चाहे गीदर का है चाहे चिड़िया का है चाहे पशु का है सिंह का है मछली का है कंडे का है आप शरीर मत देखिए बनता गए है कोई बहुत है आप देखिए ज्ञान सच्चा है कि नहीं इसी से गार्जिक को भी ज्ञान होता है तो दूसरे डर वायु की वाणी है और हृदय तो शुक्र है तदेवी ज्ञानी है और रही पूरी जाति का पता नहीं है तो तदेवी ज्ञानी है ये रुद्र सदन की बात है उपनिषदों एक श्वेत केतु के पिता एक बालक आरो गृहस्थ है और एक राजगन जब गृहस्थ थे तभी ज्ञानी थे उन्होंने मजदूरी को उपदेश दिया तो इस तरह से ज्ञान में आप कर्ता को मत देखिए कि कौन है और कसम को मत देखिए कि किस भाषा का है उसमें ये देखिए कि जो बात कही जा रही है वो अनुसारूप होती है कि नहीं अनुभव आती है कि नहीं सच्ची होती है कि नहीं इसलिए सिद्धि के द्वारा उपदेश इतनी नीति कर रहे पक्षी ने उस उपनिषद का उपदेश किया तो गुरु उसमें वही तरह ज्ञान जो सच्चा ज्ञान है आत्मा का ज्ञान है ब्रह्म का ज्ञान है हमारा गुरु हमारा ग्रंथ हमारा कम करते आप ऐसे फंसेंगे ऐसे फंसेंगे कि कष्ट से भक्त नहीं हो सकेंगे तो आगे नहीं बढ़ सकेंगे इसलिए आदर्श वस्तु की सत्यता का भूकर करने वाला जो ज्ञान है उसका होना चाहिए ये वेदांत की बात है अब मेरे भाई हमारे जीवन में प्रवेश ये तो एक है एक इच्छाबंदी है एक ब्रह्मबंदी है है तीन बंदी है तो में वो बंदी कर ही गए हो गया तो उसको किसी लता बच्चे की पृष्ठ पर बैठते तो बोलना पड़ेगा ना तो ये उपनिषद की लता है और ये खास करके हम ब्रह्मबल जी आपको तो, सुनाते हैं ब्रह्मबल में संविवेश तो उपनिषद है और फिर उस पर शंकर भाष्य है और किसी आचार्य का भाष्य उपनिषद पर नहीं है न रामानुज का है न निंदार का है न बनता है न लग होता है उपनिषदों पर भाष्य बनता है तो केवल शंकराचार्य का ही सबसे प्राचीन में भाष्य बनता है दूसरे आचार्य के अनुयायियों में भी चाहते हैं उन भाष्य पर पुरुषाचार्य में बातचीत लेता है ऐसे देखो व्यास जी ने जो बनाया सूत्र दूसरा उत्तराकाल में उनकी अंगूठी बजाने के लिए खास बजाने के लिए भाष्य दिया अब ये आर्थिक क्या है तो ये शक्ति हो है जैसे कई लाल के बत्ती जलाई जाए ना बदल और बत्ती को जैसे दीपक जला रहे हैं तत्व ज्ञान ब्रह्म ज्ञान की वो उसमें नहीं है तत्व शुभम ज्योति ज्योति आया है अब इसमें पहले ये बात प्रारंभ करते हैं कि हमारे जीवन में दोष कहाँ थे कामादान कामता अतः परम तदैकाग्यम वक्ष्यते ज्ञान भस्मरम आप अपने को नहीं जानते हैं अपनी पूर्णता को नहीं जानते इसलिए आपके मन में काम आदि दोषों का उदय होता है ये कारण बताते हैं बाहर की बच्चों में जो सौंदर्य दोष है यह महत्वपूर्ण है दो तरह की चीजें होती है जैसे एक स्त्री पुरुष तो वो काम की सुंदरता देते हैं और एक दूसरे की ओर आकर्षण हो जाते हैं आकर्षित हो जाते हैं ये आकर्षण सौंदर्य बोध के कारण है परंतु आप पीड़ा में भी क्यों चाहते हैं इसकी कामना क्यों होती है आरती की कामना क्यों होती है बोले उनमें महत्व होती है तो वो जो संकल्प करते हैं संयक्त कल्पना आप अपने लोग जब नहीं देखते हैं तब दूसरे की सुंदरता या दूसरे के महत्व की कल्पना कर रहे हैं आपको अपना महिमा नहीं एक दिन बताते हैं हमारी बेटी का ब्याह आप निष्पक्ष बेटे से हुआ है बताओ मिनिस्टर भी दुष्ट हो सकता है उसका बेटा भी दुष्ट हो सकता है ये तो नहीं है ना कि जो मिनिस्टर हो गया वो उसका ढीला हो गया या जो उसका बेटा हो गया जो कोई कमिश्नर हो गया ऐसा तो नहीं तो ये जो मिनिस्टर में महत्व बुद्धि है उसके बेटे में महत्व बुद्धि है इससे इच्छा ये हुई कि अपनी बेटी हम उनके साथ जा रहे हैं अच्छा और ये स्त्री बहुत सुंदर है ये दोस्त बहुत सुंदर है ऐसा क्यों होगा आप अपनी सुंदरता के बारे में जानते हैं आप कौन मेरे लिए बाबा मैं स्त्री नहीं हूँ पुरुष मुझे तो स्त्री नहीं है हाय हम तो स्त्री से कभी मैं स्त्री हूँ मैं पुरुष नहीं हूँ तो अपने वो स्त्री पुरुष का अभाव अनुभव करती है और पुरुष अपने वो स्त्री का अभाव अनुभव करता है इसलिए स्त्री पुरुष एक दूसरे के लिए व्याकुल होता है जिसको अपनी पूर्णता का अनुभव हो जाए कि जो स्त्री की आत्मा है वही मतलब पुरुष की आत्मा है आत्मा एक है वो पूर्णमदा पूर्ण लगन है परिपूर्ण है अद्वितीय है उसके सिवाय और कुछ है ही नहीं उसके मन में स्त्री और पुरुष की कल्पना क्यों होगी तो दूसरे महत्व महत्वपूर्ण समझने से सुंदर समझने से उसमें माधुर्य का आस्वाद करने से और दूसरे के संबंध से अपने को गौरवान्वित समझ लेते हैं तो भाई आप क्या समझते हैं अमुक सम्राट अमुक राष्ट्रपति हमारे संबंधी हैं उनके संबंधी हैं तो संबंध के कारण अपने में अभिमान का भाया कि तो ये जितने दोष हैं अपनी तीव्रता के अज्ञान से हैं लेकिन हमको तो अपनी पूर्वता का ज्ञान हो जाए तो हमको ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए इसके बिना हम अधूरे हैं इसके बिना अधूरे हैं ये बात आपके दिमाग में नहीं आ रही क्या सौंदर्य है दुनिया चांद किसी बिनाई का नाम सुंदरता है नाक और रोग और आपकी कट का नाम सुंदरता है बड़े बड़े सुंदरों को देखा मैंने जब दांत टूटे तो मुंह बोतला हो गया बड़े बड़े सुंदरों को देखा डॉक्टर ने वो दवा लगा दी हो हाथा दूर करने के लिए और काला हो गया मुंह का मुंह काला हो गया सारा का सारा काला हो गया क्या है इस सुंदरता में क्या है काम के नीचे चीज है प्रेम है हड्डी है मन न अत्र भोग्यम उत्पश्याना इस सुंदरता में भोग्य क्या है तुम अपनी सुंदरता तुम अपने अविनाशी रूप को भूल जाते हो अनुप के सौंदर्य में सकते हो तुम अपने सहज गौरव को भूल करके दूसरे को अपने साथ जोड़ करके गौरवान्वित मानते हो किसी को विदेश में राजदूत बना के भेजना था तो उन्होंने जो अपनी योग्यताओं का विवरण दिया कि हमने इतना पढ़ा है इतना लिखा है इतना काम किया है इतना अनुभव उसमें ये भी दिया कि हमारी स्त्री बहुत सुंदर है मेरा तो बता विदेश में राजदूत होने के लिए अपनी अपनी पत्नी की सुंदरता से मैं महत्वपूर्ण हूँ ये बताना पड़ता है लोग आए तो आपकी सुंदरता कैसी है धरती जमीन से आपकी सुंदरता है तिजोरी में बैंक में रखते हुए हीरा मोदी से तो आपकी सुंदरता है तो हमको तो एक ने बताया कि लाखों रुपए का हमारे पास जेवर है लेकिन हम कहीं से निकलते नहीं कभी घर में भी नहीं जानते आप लोग जानते नहीं पाते वो रखा हमें गौरव है अब बताते इन तरह की घटना आप अपने में बाहर से लेते हैं हमारे अमुक संबंधी है छत्तीसगढ़ हमारे खानदान में ऐसे ऐसे लोग हुए हैं अरे बाबा भूले तो कहीं पर से मर तो गए ना गए तो सब अस्पताल में नहीं अब उनका हमारे तो बाप दादा से उनकी बचा गलियां भी रहती अरे तुमको तो दाल सूखने के लिए भी नहीं मिलता है अब उनसे तुम्हारा गौरव कहाँ बढ़ेगा और बोलो हमारे गुरु के गुरु के गुरु के गुरु इधर पड़े थे तुम्हारा क्या बनेगा उसके तुमको तो हाँ, तुम्हारा तो साक्षात गुरु जो वक्त गुरु होगा जो तुमका गुरु होगा वो भी तुम्हारा ज्ञान दूर करेगा मेरे बाप मुझे तो की प्रार्थना नहीं होती मकान की प्रार्थना मकान से जाते हैं दूसरे तांत्रिक लोग जो है वो मुझे की प्रार्थना करते हैं नारायण तो आए से आप अपने को भी तो जानते हैं इसलिए कुछ दृष्ट और शिष्य देव आपसे बड़े हैं ब्रह्म आपसे बड़े हैं सत्य लोग में आपके बड़े बड़े लोग रहते हैं ये तो शुरू हो जाते हैं शुरू और किसी को आप उनकी कुर्सी पर बैठते हैं तो उनको बड़ा मानते हैं परंतु ये सब आप कब मानते हैं जब अपने आप को लेकिन अंधकार में डाल रखते हैं आप अपने को अंधेरे में डालकर दूसरों पर रोशनी अपनी रोशनी फेंकते हैं और अपनी रोशनी के रंग को उसकी सुंदरता समझते हैं आपकी में से जो चेतनता निकलती है उसको जो चीज मालूम करती है आपका जो आनंद है आनंद वासना जो उसमें आरोपित है उसके कारण आप उसको सुख समझते हैं आप अपना कभी उस पर डाल करके उसको सुख रूप समझते हैं आप अपना ज्ञान ही उस पर डाल करके उसको आप चमत्कार समझते हैं हाँ, हाँ क्या सनातन समझ रहा है अरे बाबा आपकी रोशनी क्या से आपकी आँख की रोशनी उससे टकराती है और वही दौर से आपको सनातन मालूम करती है आप जानते हैं सबको की प्रक्रिया जो है कि हमारी ही आंख से जाते किसी चीज से टकराते हो और वहाँ से लौट के हमको लाल काली पीली नीली मालूम करते है ये अपनी आंख की रोशनी है ये गोविंद आकाश में दिखता है बोले ये हमारी आंख की रोशनी है हमारा सूर्य की रोशनी है रंग नहीं है तो अपने आप को न जानना नहीं सारे बंधन का सारे फसाव का हेतु है आप चाहे गुलामी कीजिए जिंदगी भर और चाहे अपने आप से जान करके बिल्कुल गुलामी से बंद हो जाए आपको गुलामी करना पसंद है इसकी गुलामी इसकी गुलामी इसकी गुलामी तो सारे करने में सारी जिंदगी दीजिए साधु हो हैं तब भी तारीफ करने में जिंदगी है आओ जगत जी आओ जगत जी तुम बड़े धर्मात्मा हो बड़े काम हो बड़े उदार हो बड़े बड़े काम किए तारीफ करने में और तारीफ सुनने का भी घंटा होता है तारीफ सुनने वाले को ऐसा नशा करते पाँच हजार दस हजार टैक्स लगे हम कुछ पहले राजा लोग भाटे को दिया करते थे ना लाख रुपया दे दिया एक गाँव दे दिया सब हाथ में तारीफ थी मंदिर में तारीफ थी ऐसे साधु लोग भी तारीफ करते हैं तो गृहस्थ लोग गृहस्थ लोग मस्जिद में आकर फिर दिन नहीं जाते हैं उनके पास राम राम आप अपनी तारीफ सुन अपनी तारीफ में उनको उपस्थित की दिखाना तो नारायण आप अपने आप को जानते हैं कितने महान हैं आप यदि योगे हैं और आपको कहता है कोई किताब पढ़ना आता है तो आपकी तारीफ होगी आप साक्षात ब्रह्म आपको कोई कहे कि आपका शरीर बड़ा हृष्ट कुछ है कहीं तो आपकी तारीफ हो आपकी बुद्धि बड़ी तीप रहे कहीं आपकी तारीफ हो आपके पास इतना धन है ये कोई आपकी तारीफ हो आप इतने विद्वान विद्वान तो है ये कोई आपकी तारीफ हो अरे आपको मथुरानंद तो समय साक्षात कर्म परमात्मा है ये आपकी तारीफ नहीं है आप अपनी तारीफ सुनते जो नशे में आते हैं ये नशा आपको अपने आप को न जानने के कारण है कोई करोड़पति को कहे कि इसके पास लाख रुपए हैं तो उसकी वो तारीफ नहीं परंतु अपने करोड़पति बने को नहीं जानता है तो लड़पति सुनते तो ही वो अपनी तारीफ मानता है तो ये कामा गए जगत ज्ञाना इस आत्मवस्तु को अपने आप को न जानने के कारण दूसरी वस्तुओं की प्राप्ति के लिए मनुष्य कामना से व्याकुल हो जाता है और कामना में यदि ड्यूटी आई काम कामना के अनुसार काम हुआ तो लोग करता है और और और फंसे हो और यदि कामना पूर्ति में प्रार्थना करी तो दूसरे पर क्रोध क्यों आता है दूसरे को हम करता है न ईश्वर को करता देखते हैं न प्रकृति को करता देखते हैं न संस्कार को करता देखते हैं उस आदमी को कच्चा दे प्यारे उसने हमारी वासना की चोट देने बाधा डाली और इसके ऊपर क्रोध आ जाता है हम तुरंत क्रोधी हो जाते हैं उसकी बाधा तो हमारे लिए वैराग्यता देते हैं उनकी यदि हमारी कामना की पूर्ति में किसी ने बाधा डाली तो चलो छोड़ो अपने स्वरूप में स्थित हो जाओ हम लोग चाहिए तो हम लोग बच्चे थे तो ना तो हमारे क्या कहा कानून से आपने कई काया मिठाई लेके के करिए लेने जाते तो हाथ ऊपर उठा देते तो एक बार दो बार और कुछल से भी देखा हाथ नहीं पहुंचा तो जाओ जाओ हमको चलिए जाओ जाओ हमको चलिए हम हाथ बंद करके बैठे सर कर लो बेटा तो नहीं लो बेटा तो नहीं देते और कभी न देने तो गुस्सा भी आ गया होगा कभी उछल भी करे होंगे और गरीब गैरिया नहीं चाहिए सारा धूम कर दिया तो यदि हमारी कामना की पूर्ति में कोई बाधा डालता है तो वो हमारा विपक्षी है वो हमको ग्रस्त बनाता है हमको अपने शरीर में स्थित होने की प्रेरणा देता है तो ये मूल अज्ञान जो तो अपने स्वरूप के संबंध में है अरे भाई वेदांत लोग कहते हैं कि मैं धीरे को सत्य मालूम करता है जहाँ मालिक को सब कुछ आता है परंतु ये सामान्य ज्ञान है साधारण ज्ञान है कि नहीं मैं गौर हूँ जो मालूम नहीं है ना विशेष ज्ञान तो मैं साक्षी हूँ कि मैं दृष्टा हूँ कि मैं आत्मा हूँ कि मैं कर्ता भेजता हूँ ये तो सामान्य ज्ञान है ये सबको होता है सरल से ज्ञान को दो ज्ञान बताता है जो सामान्य नहीं है विशेष है क्योंकि मैं सही हूँ तो। कागजी भाषा ये आपके ज्ञान का स्वरूप हो गया है इसको क्या बोलते हैं उल्टा ज्ञान हो गया है क्योंकि विशेष ये विशेष है मैं पापी हूँ मैं पुण्यात्मा हूँ ये विशेष ज्ञान है मैं धनी हूँ मैं गरीब हूँ ये विशेष ज्ञान है मैं ब्राह्मण हूँ मैं क्षत्रिय हूँ ये विशेष ज्ञान है ना ये भी भरा गया है तो ब्राह्मण समझता है कि मैं क्षत्रिय के समान राजा हूँ और राजा क्षत्रिय समझता है कि मैं ब्राह्मण के समान वेदगुरु नहीं हूँ दोनों अपने में कमी का अनुभव करते हैं क्योंकि दोनों अपनी ज्ञान है इसलिए उनके ज्ञान है जब आप अपनी ऐसी पूर्णता का ज्ञान प्राप्त करोगे जिसमें कोई अधूरापन नहीं रहेगा तब यदि आप ध्यान जाए कि यदि आत्मा मेरा स्वरूप सब ब्रह्म है आत्मान से जान लिया अयम अग्नि देव कहा सत्य काम आय शरीर मंथन जो है जब आप देखेंगे कि आपकी आत्मा परिपूर्ण है स्वरूप दूर में है वही चंद्रमा में है वही ब्रह्मा में है वही विष्णु में है वही शिव में है वही ब्रह्म देव ब्रह्मांड में है वही अंतर ज्ञान परमेश्वर का प्रकाशक है वही प्रकृति का प्रकाशक है वही संपूर्ण कृष्ण का प्रकाशक है जहाँ आप अपने को इन प्रकृतियों रूप में जानेंगे वहाँ तिरुक्षण सत्य काम आय किस चीज से जानेंगे इसलिए आत्मा की जो ब्रह्म के सहज एकता है तनाव की नहीं है जो कर्म से नहीं बनती जो उपासना से नहीं बनती जो योग से नहीं बनती केवल अज्ञान से जो तो नहीं मालूम कर रही है और ज्ञान से नहीं जाती है इसलिए अज्ञान को प्राप्त करने वाले अज्ञान को खा जाने वाले अज्ञान को मिटा देने वाले अंकात्म ज्ञान ये आत्मा ब्रह्म है इस ज्ञान का अब हम निरूपण कर सकते हैं ओम शांति